और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात करो और आपस में न झगड़ो वरना तुम कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और सब्र करो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है